गीता षोड़श अध्याय तक विचार हो गया है संक्षिप्त विचार हुआ आगे सप्तदश अध्याय के आरंभ किए जा रहे हैं तो सोलहवें अध्याय के तेईसवें श्लोक में कहा था ये शास्त्र विधि मुसृजा बरतते कामकारत न सिद्ध अभावती न सुखम न परामती शास्त्र पठित है पढ़ा हुआ है किंतु उसको सत्य नहीं मानता शास्त्र को कहा नहीं मानता अपनी इच्छा के वशीभूत होकर के चलता है विषयों की तरफ लोलुप होकर के चलता चलता हो तो शास्त्र में विश्वास नहीं है उसका पढ़ा तो है शास्त्र दूसरे के लिए पढ़ा सकता है किंतु स्वयं आचरण में लाया नहीं विषय शक्ति है तो वो सिद्धि माने ज्ञान प्राप्ति की जो योग्यता है शास्त्र जन जो ज्ञान होना था जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य ज्ञान होना था वो नहीं होगा न सिद्धि अभाव होती ज्ञान प्राप्ति की जो योग्यता है तो शास्त्र के माध्यम से शास्त्र का अनुकूल करके चलता तो ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आती सिद्धि माने ज्ञान ज्ञान प्राप्ति की योग्यता अर्जन नहीं कर सकता और न सुखम लौकिक सुख भी नहीं होगा भीतर से उसको लगा है मैं शास्त्र का उल्लंघन करके चल रहा हूं भीतर बोलता है बुद्धि बोल रही है किंतु विषय शक्ति के कारण से उसको अपलाप करके चल रहा है न सुखम लौकिक सुख भी उसको नहीं न परा पराम परगति तो कहां से और ज्ञान हुआ ही नहीं परमात्मा की प्राप्ति तो कैसी होनी उसकी संभव नहीं है ऐसा कहा था इसलिए कोई भी कर्तव्य और कर्तव्य हमारे सामने जीवन में आए तो प्रमाण क्या होगा शास्त्र शास्त्र ने कर्तव्य कहा करना अकर्तव्य कहा तो नहीं करना तस्मात शास्त्र प्रमाण थे कार्य कार्य कार्य अकार्य मैंने कर्तव्य अकर्तव्य कार्य और अकार्य दो चीजों में कर्तव्य क्या है अकर्तव्य शास्त्रीय प्रमाण है तुम्हारे लिए तो भ्रम तुम्हारे लिए शास्त्रीय प्रमाण है ज्ञात शास्त्र उत्तम शास्त्र के जो विधान है जो कहा हुआ विधान है शास्त्र में कहा गया विधान उसको जानकर ही कर्म कर्म व्यवहार से कोई भी कर्म करना हो शास्त्र के द्वारा तो जानकर ही करना होगा कर्तव्य है क्या कर्तव्य मेरे लिए क्या है समझ करके करना होगा एक कारण है ये बताया अब कहना चाहते हैं पहले जो तेईसवें श्लोक में कहा था ये शास्त्र विद्य वर्तते हाँ, काम कार वहां भी यह शास्त्र विद्य ये सप्तश अध्याय में वैसे शब्द आ रहा है किंतु तो शास्त्र को पढ़ने के बाद में शास्त्र की अवहेलना करके चलने वाले थे या ये शास्त्र विद्य शास्त्र को जानते ही न जो पठित नहीं है अपठित है ये रहा है यहां इसके लिए टीका में कहा होगा कुछ आस्तिकाराम नास्तिकाराम जो दो प्रकार के व्यक्तियों के लिए पूर्व में बता दिया जो दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति वाले दो व्यक्ति को आस्तिक और नास्तिक कहा जाता है दैवी संपत्ति वाले हैं उनको आस्तिक कहा जाता है ईश्वरों अस्थि परमात्मा विश्वास है जिनको उनको आस्तिक कहा जाता है और नास्ति ईश्वर ऐसा मानने वाला नास्तिक कहा जाता है तो आस्तिकाराम नास्तिकाराम दोनों के लिए आस्तिक और नास्तिक दोनों के लिए पूर्व अध्याय में सारी चर्चा होगी दोनों की शास्त्र पढ़ करके शास्त्र का आचरण कर रहा है एक शास्त्र पढ़ने के बाद वो शास्त्र का आचरण नहीं करता वो आस्तिक नास्तिक यही है आस्तिकाराम नास्तिकाराम च शास्त्रिक चक्षुराम एक चक्षु एकम च चक्षुष एक चक्षु शास्त्र एक चक्षुर ऐसा थे शास्त्र के चक्षु शास्त्र ही एक आंख है जिसकी एक आंख क्या है शास्त्र ही जिनका आंख है और कोई आंख नहीं है शास्त्र को लेकर चलते हैं जो लोग शास्त्र के चक्षु शाम शास्त्रीय चक्षु है जिनका आंख है जिसकी जिन लोगों किसके आस्तिक और नास्तिक पठित है दोनों पठित है एक आचरण कर रहा है एक आचरण नहीं कर रहा है शास्त्र का पालन नहीं कर रहा है इतनी बात है गति रोकता उनकी गति बता दी एक तो, तो मोक्ष गति बताई दैवी संपत्ति निबंध आया से नहीं पता दैवी संपत्ति जो है ना दैवी संपत्ति वाले की मोक्ष हो जाती है मोक्ष के लिए दैवी संपत्ति जिसके जीव में आर्जन कर सका मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति जो प्रवृत्ति निवृत्ति आदि जो बताया हुआ है दम्बोदर को विवाद आदि है ये जो सट दोष है तो ये आसुरी संपत्ति है वो किसके लिए बंधन के लिए संसार में चक्कर काटने के लिए है निबंधाया सभी पता कहा था कोई <clears throat> गति बता दी शास्त्र के चक्षु वाली को दोनों की गति बता दी दोनों शास्त्र पठिता है आस्तिक नास्तिक एक पढ़ करके शास्त्र को नहीं मानता और एक शास्त्र को मान के चल रहा है शास्त्र को मान के चल रहा है तो आस्तिक है नहीं मान रहा तो नास्तिक है शास्त्र पठित दोनों हैं उसको लेकर गति रोकता उनके फल बता दिया एक को संसार है एक को मोक्ष है संप्रति अब ईरान अब क्या बोल रहा है आस्तिका में कुछ लोग हैं तो आस्तिक है परमात्मा है विश्वास है ईश्वर है मानते हैं क्योंकि तो शास्त्र पढ़ नहीं पाते शास्त्र नहीं शास्त्र के चक्षु नहीं है वो आस्तिक तो है परमात्मा है करके विश्वास में है आस्तिका नाम है वह शास्त्र अनभिज्ञा नाम है तो आस्तिक है तो शास्त्र को अभिज्ञा नहीं शास्त्र को नहीं जानते पठित नहीं है शास्त्र को नहीं जानते ऐसे लोग भी समाज में है गति जिज्ञा गति जिज्ञास है उनकी क्या क्या गति होगी एक को बंधन बता दिया एक को मोक्ष बता दिया आस्तिक और नास्तिक को लेकर के वो तो शास्त्र पठित थे दोनों तो। दोनों को तो बता दिया इनकी कौन सी गति होगी जो शास्त्र नहीं जानते किंतु है आस्तिक आस्तिका नाम एवं शास्त्र और विज्ञान गति जिज्ञास है गति को जानने की इच्छा फल क्या होगा इनको क्या मिलेगा जिज्ञासा जिज्ञासा से पृछती या पूछा जा रहा तो पूर्व पूर्व पक्ष अर्जुन पूछता है बोलते हैं अर्जुन वाच्य से आया है अर्जुन पूछता है हाँ, कहा है अर्जुन वाच्य कहा है भाष्य में कहा तस्मात शास्त्र प्रमाण थे यदि भगवत वाक्य वाक्य लब्ध प्रश्न बीज अर्जुन भाष्य ये होगा तस्मात शास्त्र प्रमाण थे कार्याकारी व्यवस्थित पूर्व अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा था तस्मात शास्त्र प्रमाणते कार्य व्यवस्थित हो ज्ञातवा शास्त्र विधानोत्तम कर्म कर तुम ध्यान कहा था इति भगवत वाक्य आदि भगवान का वाक्य है पूर्व अध्याय के अंतिम श्लोक भगवान के वाक्य है भगवान के वाक्य से लब्ध प्रश्न अर्जुन को प्रश्न का बीज लाभ हो गया प्रश्न करने के सामर्थ्य आ गया अर्जुन में दो प्रकार के व्यक्ति के तुले तो गए तो, तो जो शास्त्र विधि को जानते नहीं है जान करके छोड़ते नहीं किंतु जानते ही नहीं जो लोग उनकी क्या गति होगी प्रश्न का बीज मिल गया ये शब्द के द्वारा किस शब्द के द्वारा तस्मात शास्त्र प्रमाणते कार्य व्यवस्थित हो और शास्त्र को नहीं जानते जो लोग तो कर्तव्य कर्तव्य के बारे में उनकी क्या गति होगी ये पूछना है देखा तस्मात शास्त्र प्रमाणते इति भगवत वाक्यात भगवान के जो वाक्य है पूर्व अध्याय के अंतिम में लब्ध प्रश्न बीज सन अर्जुन आह ऐसा होगा लब्ध हो गया प्रश्न का बीज प्राप्त हो गया अर्जुन को प्रश्न का बीज प्रश्न करने का बीज क्या मिला शास्त्र प्रमाण है करके आप कह रहे हैं जो शास्त्र को नहीं जानते बेचारे किंतु आस्तिक बुद्धि है उनकी उनके लिए क्या गति होगी कहा जाना उन्होंने आस्तिकों के लिए गति बता दी है दैव शब्द विमोक्षा है और दूसरे के लिए नास्तिकों को बता दी आया सूर्य पता तो इनकी क्या गति होगी तृतीय कोटि में जो है शास्त्र नहीं जानते कि तो आस्तिक है ये प्रश्न अर्जुन इसलिए प्रश्न कर रहा है यहां कहते हैं

परंतु किंतु पूर्वोक्त दो को दो से पृथक करने के लिए पूर्वोक्त दो की चर्चा हुई है आस्तिक और नास्तिक दोनों की चर्चा हो चुकी है शास्त्र पठित है दोनों तो। किंतु तू माने किंतु ये तृतीय प्रश्न के लिए तू लगा हुआ है तृतीय विषय प्रश्न है ये शास्त्र तुम उत्सृत्य शास्त्र के मर्यादा को छोड़े हुए शास्त्र नहीं जानते बेचारे पढ़ा हो तो शास्त्र के विधान को समझते शास्त्र पढ़ा ही नहीं पठित नहीं है श्रद्धा ये श्रद्धा से युक्त होकर के यजन कर रहे हैं जो लोग पूजन कर रहे हैं यज धातु पूजा आदि अर्थ होता है देव पूजा संगति कर्मदान जल धातु का अर्थ होता है देवता आदि की पूजा करते हैं जो भी हो यजनते तो केवल आया दे, या देव भी नहीं लगाया यक्ष रक्षस भी नहीं लगाया भूत प्रेत भी नहीं लगाया यजन करते हैं सामान्य प्रश्न है यार किसकी यजन करना पूछे तो उत्तर नहीं यहां एजनते खाली बोलते एजन करते हैं शास्त्र विधान को उत्क्रमण करके बोले त्याग करके जानते नहीं इसलिए त्याग हुआ त्याग हुआ है जन्मजात त्याग है क्यों जानते नहीं वो शास्त्र के विधान को किस प्रकार करना चाहिए जन ख्याल नहीं फिर भी करते हैं किंतु श्रद्धयानुगा श्रद्धा से युक्त होकर के श्रद्धा है हाँ। यज्ञादि कर रहे बेचारे पूजा आदि कर रहे हैं श्रद्धा युक्त होकर हैं तेसाम निष्ठा का कृष्ण सत्वभाव रजस्तम उनकी निष्ठा हे कृष्ण तेसाम निष्ठा का उनकी निष्ठा क्या है निष्ठा में स्थिति क्या है उनकी निष्ठा श्रद्धा क्या है उनका सत्वम आवरद सत्व है सत्वगुण है रजोगुण है तम गुण है क्या है उनका क्या माना जाए सत्व में निष्ठा है रजो में निष्ठा है तम में निष्ठा उनकी निष्ठा कहां है सत्व में निष्ठा है सदगुण में अथवा रजगुण में है अथवा तमगुण में है कहां निष्ठा होती है स्थिति कहाँ है तो शास्त्र विधि को जानते नहीं आस्तिक है बेचारे किंतु श्रद्धा से युक्त होकर के यजन कर रहे हैं पूजन कर रहे हैं उनकी निष्ठा किसमें है का निष्ठा कौन निष्ठा है उनकी सत्वम आहो अथवा रजस्तव अथवा रज है तम है कौन सी निष्ठा है सत्वगुण में निष्ठा है रजगुण में निष्ठा है तम गुण में निष्ठा है यह अर्थ कहा निष्ठा उनकी स्थिति कहां है यजन कर रहे श्रद्धा वगैरह शास्त्र मर्यादा को नहीं जानते शास्त्र के विधान को नहीं जानते उनकी दिशा कहां है ये प्रश्न है ये सामान्य प्रश्न हो रहा है क्यों किसकी पूजा करते वो हम विशेषण नहीं दिया केवल दे बोला हुआ है देवता की पूजा करते हैं अथवा भूतों की करते हैं राक्षस करते हैं एक शादी के करते हैं दिया नहीं विशेषण नहीं देंगे एजंते केवल बोला हुआ है ये सामान्य प्रश्न है आगे विशेष करके उत्तर देंगे भगवान हाँ। विशेष कर उत्तर देंगे विशेष बुलाकर उत्तर देंगे ये कहना होगा आगे आगे उत्तर आएगा यहां तो प्रश्न है सामान्य प्रश्न है भाष्य में कहते हैं एक चीज जो कोई भी हो शास्त्र पठित नहीं है देहात में रहने वाले लोग हैं शास्त्र पठित नहीं है एक चित अविशेषता सामान्य रूप से कह दिया है ये शब्द से बोला तो सर्वनाम से बोला हुआ जो कोई भी हो शास्त्र विधि माने शास्त्र विधान विधि और विधान का अर्थ एक ही है विधि में विपूर्वक पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय किया उपसर्ग हो की और विधान में ल्यूट प्रत्यय किया है भावे सूत्र से ल्यूट का आना हुआ यू का आना हुआ विधान बोलो विधि बोलो एक ही चीज है विधि माने विधानम शास्त्र विधान शास्त्र विधि माने शास्त्र विधानम शास्त्र का विधान को लिख है कौन श्रुति स्मृति शास्त्र शोधराम यही शास्त्र का विधान क्या है श्रुति और स्मृति के मृत्यु रूप शास्त्र के द्वारा जो प्रेरणा है ये करो ये मत करो यही बोलते हुए श्रुति स्मृति जो प्रेरणा शुद्ध धातु प्रेरणा अथवा रुदा शुद्ध प्रेरणे चुरादि का धातु है नोदयती चोदयती ऐसा बोलते हैं रुद धातु शुद्ध धातु प्रेरणा देने अर्थ है शास्त्र प्रेरणा देता है शास्त्र विधान माने गया श्रुति स्मृति शास्त्र चौधराम ये कहा शास्त्र विधान का करता श्रुति स्मृति पर जो शास्त्र है दो प्रकार के शास्त्र है उसके जो प्रेरणा स्वरूप है इसको विधान बोलते हैं उत्सृज्य त्याग करके शास्त्र विधान पढ़े ही नहीं तो उनमें होना संभव नहीं त्यागा हुआ उन्होंने शास्त्र विधान को परित्यज्य परित्याग करके यजंते देवादिन पूजयंती यही अर्थ है हाँ, यजंते का अर्थ भाष्यकार ने देवादिन लगा दिया किंतु श्लोक में देवादिन शब्द नहीं है तो पूज यजंते बोला उसका तो पूजा तो पूजा करते हैं श्रद्धया अन्युता कहा श्रद्धा से आस्तिक बुद्धि से अन्युत संबंधित है मैं जिसकी पूजा करता हूं वह है ऐसी बुद्धि है उनकी निश्चय निश्चय है श्रद्धा बोले आस्तिक बुद्धि अन्युता आस्तिक बुद्धि से जुड़े हुए हैं शास्त्र पठित तो नहीं है किंतु अस्तित्व बुद्धि है मैं जिसकी पूजा कर रहा हूं वो देवता है ये बुद्धि है अनुता मैंने संयुक्त आस्तु बुद्धि से संयुक्त हुए हैं ऐसे लोग संत ऐसे होते हुए श्रुति लक्षण स्मृति लक्षण कंचित शास्त्र अभिधिम अपश्यंत दोनों प्रकार के शास्त्र को जानते नहीं वो बेचारे श्रुति स्वरूप भी नहीं स्मृति स्वरूप भी नहीं श्रुति लक्षण स्मृति लक्षण बा कंचित शास्त्र शास्त्र भी अप्रसिद्ध किसी कोई भी शास्त्र हो चाहे श्रुति हो चाहे स्मृति हो उस शास्त्र के विधान को देखते नहीं जानते नहीं अपश्यंत प्राप्त करते हुए पठित नहीं है अपशंत वृद्ध व्यवहार दर्शनादेव संतधानतया ये देवादि जयंती कहते हैं बड़े लोगों के व्यवहार को देख करके बड़े लोग पूजा करते हैं तो वो भी पूजा करने लग जाते हैं वृद्ध व्यवहार बड़े बड़े लोग शिष्ट लोग शिष्टाचार प्रभाव मार्ग के चलते हैं जो लोग वृद्ध व्यवहार दर्शनादेव वृद्ध बने ज्ञान वृद्ध जो होंगे ना उस विषय में तो व्यवहार पर उनके दर्शन मात्र से ही वो देखा देखी में करते हैं यही अर्थ है श्रद्धालु होकर के श्रद्धारत या श्रद्धालु होते हुए ये देवादि पूजा है करते यही भाष्यकार लिखते हैं ये देवादि को पूजा करते हैं किंतु यह देवादि शब्द श्लोक में नहीं है खाली यजंते सामान्य प्रश्न है किसकी यज्ञ करना है पूजन करना पूजयती ते यह उनको यहां पर मानी ये सप्तश अध्याय के शुरू के श्लोक में यह हमारे अश्विन श्लोके यह ये शास्त्र विदुम उत्सृज्य यजंते श्रद्धानुदय इतव गृहते उन्हीं को यहां पर यह सुलभ हुए यह शास्त्र विधि मुसृजनते इत्यादि के द्वारा ग्रहण किया जाता है हाँ, जो पहले वाले शास्त्र तो मुसृजन का नहीं वो तो शास्त्र को पढ़ करके उसके कथन नहीं मानते श्रद्धा नहीं रखते उसे विश्वास नहीं है ऐसे लोगों को लिया था पहले जिसको आसुर आसुरी कहा था आसुर भाव वाले कहा था किंतु यहां पर ऐसे लोग हैं स्वयं पठित नहीं है किंतु वृत्त व्यवहार को देखते हुए बड़े लोगों को देखा देखी में श्रद्धा तो होकर के देवादि की पूजा करते हैं जो लोग पूजा करते हैं तो मान श्रद्धा से युक्त तो होकर के करते हैं जो लोग उन्हीं को यहां पर ये शास्त्र विधु सृज्य इत्यादि कहा जाता है अच्छा ये पूरा जो लोग पूर्वोक्त जो होंगे पहले जो मान सोलह अध्याय कहा हुआ यह शास्त्र विधु सृज्य वाले पूर्वोक्त ये पुनः जो लोग पहले वाले जो सोलह अध्याय कहे गए जो कंजित शास्त्र विदो बलवाना शास्त्र विधान को जानते हुए प्राप्त करते हुए उन्होंने शास्त्र विधान जानते वो जानते हैं प्राप्त किया हुआ है पठित है वो एवं उपलब्धाना एवं शास्त्र विधि को उपलब्धि करते हुए ही तम उत्सृज उसको उल्लंघन करने वाले उसके कहना नहीं मानना उत्सृज यथा विधि देवादिन पूजा यथा विधि देवादिन पूजा अन्य प्रकार से जिस प्रकार से जिस देवता की पूजा होनी है उस प्रकार नहीं करते वो लोग अयथा विधि देवादि पूजा थी यथा विधि नहीं करते अयथा विधि करते ते ये शास्त्र मुसृज्य यजनते न परिगृह ये लोग पूर्वोक्त जो लोग है ये शास्त्र विधि विसृजय यजनते ये श्लोक में आया हुआ शास्त्र विधि विसृजय यजनते में उनका ग्रहण नहीं किया जाता पहले वालों यहां तो जो <clears throat> अपने शास्त्र पढ़े ही नहीं केवल वृद्ध व्यवहार को लेकर के श्रद्धा से युक्त होकर के पूजन में लगे उनके प्रश्न है यहां जो पहले वाले के शास्त्र पढ़े थे शास्त्र का विधान को जानते हुए फिर यथाविधि जैसे शास्त्र का उस प्रकार नहीं चलते दूसरे ढंग से चलते हैं उनको वहां पर पूर्व में कहा था यह शास्त्र विधि मित्र कहा था ये कहना है कस्मात प्रश्न होगा क्यों यहाँ एक ही शब्द है एक जैसा शब्द है वहां भी ऐसा अस्त्र विद्युत स्थिति है यहां भी ऐसा अस्त्र विद्युत स्थिति समान है तो क्यों ये इनको तो आस्तिक माना उनको नास्तिक क्यों मानते हैं प्रश्न होता है श्रद्धाया अनितत्व विशेषणार्थ वहां श्रद्धा नहीं थी वहां ये शास्त्र परि ये शास्त्र विद्युत से वर्तते कामधारण था क्या वहां श्रद्धा श्रद्धान्वित कहा हुआ क्या कहा हुआ है हाँ ये आड़े पड़ेगा उनको लेने में उनमें श्रद्धा नहीं है इनमें श्रद्धा है श्रद्धया अनुत विशेषणात् श्रद्धा श्रद्धान्वित विशेषण है इनके लिए यह शास्त्र विद्युत श्रद्धान्वित हाँ, उनके लिए नहीं था इसलिए उनको यहां ग्रहण नहीं करना यह शास्त्र विद्युत जो कहा था सोलह अध्याय में उसको नहीं लेना देवादि देवादि पूजा विधि परम किंचित शास्त्र पश्चिम वो लोग कैसे हैं देवताओं के जो पूजा के जो विधान है ना उसको जानते हुए हैं लोग जानते हैं वो पहले वाले देवादि पूजा विधि परम किंचित शास्त्र पश्यंत मान देवादि के पूजा विधान जो होगा उसको कथन करने वाला कुछ शास्त्र प्राप्त करते हुए शास्त्र कुछ जाना है उन्होंने पढ़ा है पहले वाले उन्होंने एवं तब उस फिर उसको त्याग देना विधान को त्याग देना त्यागा हुआ पहले वालों को बात है सोलह दिया वालों का ही अश्रद्धानता या अश्रद्धालु होकर के क्या करे सनातन धर्म में आ गए दिखावों के लिए कुछ करना पड़ेगा ये भी ऐसा होगा पूजा आदि ये स्थिति है क्या करें साधु जीवन में आ गए सुबह सुबह घूमेंगे फिरेंगे तो लोग हंसेंगे चुपचाप बैठे रहो कमल ओढ़ के बैठे रहो कम से कम ये भी एक श्रद्धा होगी आपकी हाँ। ऐसे आलस्य तो शास्त्र विधान को जानते हुए तद उस उसको त्याग करके या श्रद्धालु न होकर के उस शास्त्र में जो कहा विश्वास नहीं है श्रद्धा ने अश्रद्धाणतया तद विहितानाम देवादि पूजायाम शास्त्र के द्वारा जो भी देवादि पूजा विधान था देवादि की पूजा की पूजायाम श्रद्धा अनित्वा प्रवर्तते चिदसक्यम कल्पहितुम श्रद्धा से अनुत होकर के प्रवृत्ति होते ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती किन के लिए जो सोलह अध्याय में कहे गए जो यशास्त्र पुरुष वर्तते काम कार वाले के लिए ऐसा कल्पना नहीं की जा सकती यशमात ये हेतु है इसलिए ये शास्त्र यहां आया हुआ है उनको नहीं लिया जा यहां तो अपठिता है शास्त्र को नहीं जानते कि तू हाँ। मैंने शिष्टाचार को लेकर के चलते हैं बड़े लोग जैसे करें वृद्ध व्यवहार को लेकर के चलने वाले जितने हैं होते हैं श्रद्धा से अनित है तत्परता से कर रहे हैं उनकी निष्ठा क्या होती है सतुगुण में निष्ठा है रजुगुण में तमुगुण में कहा निष्ठा है जो पूछना है यहाँ तस्मात पूर्वोक्ता एवं पहले जो कहा था या भाष्य में पहले वाली व्याख्या यहां वाली की किसकी सप्तश अध्याय वाली की है ये पूर्वोक्त माने पहले वाली व्याख्या वाले सप्तश अध्याय की जो व्याख्या की गई उसके पूर्वोक्ता ये ये शास्त्र श्रद्धानुता इत्यत्र यही लोग जो होते हैं ना इन्हें कोई ये शास्त्र श्रद्धानुता इन्हीं को कहा जाता है वृद्ध व्यवहार को देख करके काम कर रहे हैं श्रद्धालुत्व होकर के कर रहे हैं ऐसी तो जो आदिवासी आदि क्षेत्रों में हम जाके देखते हैं लगे वो करते हैं जानकारी कुछ भी नहीं है ऐसा कहा था उन्होंने कहा था ऐसा करो कहा था बस लगे हैं बेचारे ऐसे होते श्रद्धा उनमें तो ये यहां गृहित होते हैं कहा तेसाम एवं भूतानाम इस प्रकार के जो व्यक्ति है शास्त्र विधान को त्यागा हुआ है पढ़ाई नहीं बेचारे जानते ही नहीं वो त्याग त्याग त्याग हो ही गया उनके द्वारा जानते ही नहीं वो किंतु श्रद्धा से युक्त होकर के यजन कर रहे हैं यही है तेसाम एवं भूतान इस प्रकार के हैं श्रद्धा से लगे हुए हैं जो लोग वृद्ध व्यवहार को देखते हुए उनके निष्ठा मान स्थिति निष्ठा तू मानी किंतु उनकी निष्ठा क्या है कैस में है ये कहना है का कृष्णा का कृष्ण का निष्ठा है जैसे तो का बोला वो निष्ठा क्या है उनकी सतुगुण में निष्ठा है रजुगुण में है तमुगुण में कहा है सत्वम आओ रजस्तम किसमें निष्ठा उनकी सतुगुण में रजुगुण में तमुगुण में कहा है उनको तमुगुणी कहा जाए सतुगुणी कहा जाए रजुगुणी कहा जाए शास्त्र विधान को नहीं जानते श्रद्धा से लगे वृद्ध व्यवहार को देख करके लगे हैं उनकी निष्ठा किस पर है उनको सात्विक माना जाए राजस माना जाए तामस माना जाए या माना जाए यह प्रश्न है किम सत्व निष्ठा क्या सत्व में निष्ठा उनकी है सदगुण में निष्ठा अवस्थान में निष्ठा बने अवस्था में स्थिति अवस्थिति व्यवस्था उनकी व्यवस्थित आवश्यक रजो अथवा आओ बने आवश्यक बने अथवा रजो रज में है उनकी स्थिति अथवा तम अथवा तम में है तम गुण में है ये प्रश्न यही है यहाँ ये तद उत्तम भवती कहते हैं यही कहा हुआ होता है ईश्वर के द्वारा यहाँ तेसाम देवादि विषय पूजा उनको जो देवादि पूजा करते हैं लोग शास्त्र के मर्यादा जानते रहे श्रद्धा से युक्त होकर के वृद्ध व्यवहार को देखते हुए जैसे जैसे लोग कर रहे हैं वैसे करते हैं देवादि पूजा करते हैं तो पूजा सा किम वो पूजा है सावन वो पूजा देवादि की पूजा वो कर रहे हो किम सात्विकी सात्विकी आवश्यक राजसी उतर तामस है वो पूजा क्या है सात्विकी है राजसी तामसी क्या है उनकी पूजा ये प्रश्न है ठीक है देखिए यजंते यदि याग ग्रहण दानादर उपलक्षण रहते हैं यजंते आया है तो ये धातु माने देव पूजा आदि में आता है तो दान आदि भी लेना है और भी है बात आहार को लेना है मान दान है तप है ये भी लेना है दान आदि के भी उपलक्षण कहा याग ग्रहण दान आदि उपलक्षण कहते हैं यदि वेदोक्तम विधि अपश्यंतम अपश्यंत तम उत्सृजंती कथम तरी श्रद्धाना यागादि कुरंती नहीं मानम बिना श्रद्धा यागादि कर तुम शक्ति में कहते हैं भाई प्रश्न उठता है यहां आशंका है यदि वेदोक्तम विधि में अपश्यंत यदि वेद में कहा गया जो विधि है किस देवता की पूजा किस ढंग से होने जो विधान है उसको जानते नहीं जो लोग अपश्यंत तो कम उत्सृजनती न देखते हुए विधि को नहीं जानते त्याग दिया त्यागा हुआ उनके द्वारा उत्सर्जन त्यागते हैं जो लोग कथम तर ही फिर वो श्रद्धालु होकर के देवादि की पूजा करते हैं कैसे माना जाए उनको प्रमाण के बिना बिना प्रमाण चल रहे हैं जो तो कैसे माना जाएगा ये श्रद्धालु है ये आस्तिक की बुद्धि युक्त है आस्तिक बुद्धि कैसे माना जाए कथम तरी प्रथाना श्रद्धालु श्रद्धायुक्त होते हुए यागादि कुरबंदी श्रद्धायुक्त होकर के यागादि करते कैसे माना जाए उनको नहीं मानव बिना श्रद्धा यागादि करते हैं प्रमाण के बिना श्रद्धापूर्वक यागादि करना संभव नहीं है अप्रमाण वेद है शास्त्र है वो पढ़, पढ़ा नहीं उन्होंने तो कैसे माना जाए ये सब बातें श्रद्धा से युक्त होकर के जनते कैसे बोल दिया यहां यही है तो ये कहा जाए यदि वेदोक्तम विधिम अपश्यंत वेद में कहा हो जब विधान न जानते हुए तम उसकी उसको त्याग देते हैं जानते नहीं तो त्यागा हुआ उनके द्वारा प्रथम तरी तो तब फिर कैसे श्रद्धा नाम यागादि कुरबंती फिर श्रद्धालु होते हुए यागादि करते कैसे कहा जाए कैसे माना जाए क्यों नहीं मानम बिना श्रद्धा यागादि करते बिना प्रमाण के मानम माने प्रमाणम प्रमाण के बिना श्रद्धापूर्वक याग आदि करना संभव नहीं है ये शंका आगे तो कहा श्रुति स्मृति इत्यादि कहा था <clears throat> श्रुति लक्षण स्मृति लक्षण वहा कंचित शास्त्र विधि में अपश्यंत कहा कोई भी शास्त्र को नहीं जानते पठित नहीं है श्रुति भी नहीं स्मृति भी नहीं, नहीं जानते दोनों को नहीं जानते वृद्ध व्यवहार समाधे वृद्ध व्यवहार को देखते हुए बड़े लोग जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वो भी देखा देखी में कर रहे हैं ये देवादि पूजा का देवादि की पूजा करते हैं लोग ये यहाँ माने इस अस्मिन श्लोक इस श्लोक में सप्तः श्रद्धा के स्वरूप श्लोक में यह शास्त्रविद विसृज्या यदि का ग्रहण किया जाता है ठीक है कहते हैं नो नो शास्त्रीय विधि पश्यंत भी केचित तम उपेक्षा प्रेक्षा यागादि कुरंतो दृश्यंते तेषा यह ये शास्त्र विधि विसृज्य ग्रह भविष्य भविष्य शंका है यहां नो शास्त्रीय विदम पश्चिम तो शास्त्र के मर्यादा को जानते हैं शास्त्र पठित हैं जो लोग उनमें भी केचित कुछ लोग ऐसे होते हैं गैरअंदाज कर देते उसे नहीं मानते शास्त्र की कथा नहीं मानते शास्त्रीय विदम पश्चिम तो भी शास्त्रीय विधान को जानते हुए भी केचित कुछ लोग उसको शास्त्र के विधान को मर्यादा का पालन करके कुछ लोग नहीं करते उपेक्षा उसको उपेक्षा करके शास्त्र विधान को शास्त्र के विधान को उपेक्षा कर स्वत्प्रेक्षा अपनी कल्पना से स्व स्वप्रेक्षा स्वत्प्रेक्षा अपनी कल्पना अपनी कल्पना के द्वारा याग आदि कुरबंधु अपने ढंग से याग आदि करते हैं दृष्टांत कुछ लोग ऐसा देखते हैं माने शास्त्र मर्यादा का अधिक्रमण करके मनमाना ढंग से याग आदि करने वाले लोग भी होते हैं तेसाम यह उन लोगों का यहां पर ये जो श्लोक है सप्तश सत्या के शुरू में यह शास्त्र विद्युत विस्तृत है यदि ग्रहो न भविष्य है ग्रह भविष्य यह शंका है इनका भी ग्रहण होगा कहते हैं न उनका ग्रहण बताया ये पुनर् इत्यादि शब्द से कहा था इसके भाषण में ये पुनर्तंजित शास्त्र विधम बोलवाना कुछ शास्त्र विधान को उपलब्धि करते हुए जानते हैं कुछ लोग उपलब्धवाना एवं उपलब्धि करते हुए ही तम उत्सृज्य शास्त्र विधान को उल्लंघन करके त्याग कर अयथा विधि अयथा विधि देवादि पूजते अयथा विधि यथा विधि ने अयथा विधि विधान को अतिक्रमण करके देवादि की पूजा करते हैं मनमाना ढंग से ते यह शास्त्र विदु जनते न परिग्रहते ये लोग यहां यह शास्त्र विदु जनते न परिग्रहते उनका ग्रहण या नहीं होता श्लोक में तेसाम अत्र परिग्रह प्रश्न पूर्व हेतु तेसाम जो शास्त्र को जानते हुए जो परित्याग करके बैठे हैं यथा विधि यज्ञ नहीं करते उनका यहाँ अत्र माने अश्विन श्लोक है इस श्लोक में यह शास्त्र विधि यहां जो आया इसमें अपरिग्रह हेतु वहां उनका ग्रहण न होने में कारण बतलाते हैं तस्माद ये प्रश्न है कैसे नहीं होंगे वो ग्रहण उनका ग्रहण क्यों नहीं होता यहां यह शास्त्र में तो समान है वहां भी यहां भी समान है शब्द तो उनको क्यों नहीं ग्रहण किया जाए प्रश्न उठा तो कहा श्रद्धया अमृत विशेषा के उत्तर दिया है श्रद्धा से युक्त होते हुए कहा उनकी श्रद्धा भी यह शास्त्र में जो सोलह अध्याय में कहा था जो यह शास्त्र में श्रद्धा नहीं उनकी शास्त्रज्ञानाम तद उपेक्षा बताम शास्त्रज्ञ है उसके उपेक्षा करके रहने वाले शास्त्र की अपेक्षा नहीं उपेक्षा है उसकी ये तो ऐसे बोलता है मानते हैं शास्त्र ज्ञान शास्त्र जानते तो है तद उपेक्षा है मतलब शास्त्र के जो विधान है उसको उसमें उपेक्षा करने वाले जो लोग हैं ग्रहे भी विशेषण अविरुद्धम पूर्वादि बोलता है उर्ग ग्रहण करने पर विशेषण तो समान ही है क्या है ये शास्त्र विधि पुस्तरी के समान है ये शंका आशंका संज्ञा करने उत्तर तो हाँ शास्त्र विधान को जानते तो फिर श्रद्धा से उत्तर होते श्रद्धा नहीं हो नहीं कहते व्याघात तो भाई को कहा देवादिन इत्यादि कहा है देवादि पूजा विधि परम कंचित शास्त्र पश्चिम देव कहा देवादि के विधान के दूसरे के लिए बताने के लिए ठीक है ऐसा करो ऐसा करो कर सकते हैं वो बताते हैं कुछ शास्त्र के जानते हुए भी किंतु तद उत्सृज्य देवादि पूजा के जो विधान है उसे त्याग करके तद उत्सृज्य अश्रद्धातया अश्रद्धालु होकर के तद विहितायाम देवादि पूजा आयाम उस शास्त्र के द्वारा विधान है विहित जो देवादि पूजा उसमें श्रद्धया अन्यता प्रवर्तन देते न सक्यम परिकल्पन श्रद्धापूर्वक होकर के उसमें लगते हैं प्रवृत्ति होती है उनकी ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती उनमें तो श्रद्धा नहीं होने ऐसी स्थिति है बेकार अस्त्रवाम तया तद उत्सृज श्रद्धा नहीं है उनमें शास्त्र पठित तो है किंतु शास्त्र के जो विधान में श्रद्धा नहीं है तया तद उत्सृज शास्त्र के जो विधान है उसको त्याग कर ऐसा त्याग करके जो ये आदि करते हैं उनको यहां नहीं दिया जा सकता ये कहा विधि विधिम अधिगछताम अभी शास्त्रों के विधान को जानने वाले हैं जानते हैं वो लोग दूसरे को बताने के लिए कुशल हैं में वेदम अधिगतता भी ज्ञान होते हुए जानने वाले का भी तब अवधि उसको तिरस्कार करके जानते तो हैं उसको तिरस्कार करके शास्त्र की विधि को तिरस्कार कर देना गैरअंदाज कर देना तम अवधि स्वेच्छा या देवा देव पूजा जो प्रवृत्ता अपनी इच्छा से देवादि पूजा की पूजा में जो प्रवृत्त लोग हैं आसुरेश अंतर्भाव उनके तो आसुरी संपदा में अंतर्भाव है असुरों में है उनको असुर कहा जाता है बड़े बड़े पंडित हैं उपदेश देने के लिए दूसरे के लिए अपने आचरण नहीं करते तो उनको असुर कहा जाता है शास्त्र शास्त्र के पुरुष असुर बोलते हैं उनको उनके तो आसुरेश अंतर्भाव हो आसुर में भी आसुरों में ही उनका अंतर्भाव है वो दैत्य है वो असुर है यस्माद अनंतराध्याय सिद्ध जिसे कि पूर्व अध्याय में सिद्ध हुआ है असुरों की संपत्ति सारी बताई थी पूर्व अध्याय में आसुरी संपदा वाले की चर्चा कराई संप्रदायों की चर्चा खूब की है पूर्वाध्याय अनंतराध्याय में अभी अभी जो गया हुआ अध्याय पूर्वाध्याय है इसमें सिद्ध सिद्ध है तस्मात आस्तिकाधिकार है या आस्तिक के अधिकार में या आस्तिक लोग होंगे वहां पर तेसाम प्रसंगों नास्ती उनकी प्रसक्ति नहीं आती है या तो श्रद्धान्विता आस्तिक की बात है किसकी बात है श्रद्धान्विता लगा हुआ है ये शास्त्र विदुर से ये जनते श्रद्धान्विता ये आस्तिक की बात है तो उनका यहां प्रवेश हो नहीं सकता वो नास्तिक कोटि में है वो असुर में असुर का प्रभाव है उसका पहली बार जो मैंने सोलह अध्याय के तेईसवें श्लोक में आया था यह शास्त्र पूछ रही जब वर्तते काम का रहता था ना वहां तब ध्यान होता नहीं है उसको नहीं लिया जाता ये कहा यस्मात इत्यादि शब्द का इसमात तस्मात पूर्वोक्ता वह या भाष्य में पहले कहा जो इस श्लोक वाले तम यह शास्त्र दृष्टि श्रद्धानुदयी देव यजंत दे श्रद्धानु कहा था पहले वाली व्याख्या जो है यही पूर्वोक्ता का था तस्मात पूर्वोक्ता एवं यह शास्त्र तत्र गृहते उन्हीं का ग्रहण किया जाता है श्रद्धा कहा हुआ इसलिए पूर्वोक्ता माने शास्त्र अनभिज्ञा पहले जो कहा था भाष्य में पूर्वोक्ता माने पहले अध्याय में नहीं जाना इसी अध्याय में पहली व्याख्या जितनी हुई यह शास्त्र यजनते श्रद्धान्विता वाले हैं पूर्वोक्ता पूर्वोक्ता शास्त्र अनभिज्ञा शास्त्र को न जानने वाले शास्त्र नहीं जानते अनविज्ञा वृत्त व्यवहार अनुसार वृत्त व्यवहार के अनुसरण करने वाले जो बड़े लोग जैसा कर रहे हैं देखा देखी में कर रहे हैं उनको पता नहीं हम कहां चल रहे हैं है विश्वास के साथ चल रहे हैं <clears throat> तही श्रद्धया क्रियमाण कर्म करो पुत्र परिवर्षित हुए उनके द्वारा जो शास्त्र विधान को परित्याग करके श्रद्धा के द्वारा माने यजन देव देवादि के यजन कर रहे हैं तही उनके द्वारा किया हुआ जो श्रद्धा है ना श्रद्धया क्रियमाण कर्म उनके द्वारा श्रद्धा पूर्वक किया गया जो कर्म होगा कहां उपयुक्त तो होगा उनका वो कर्म किस किसमें फलशाली बनेगा प्रश्न उठता है तो पृछत ये पूछते हैं तही श्रद्धया क्रियमाण कर्म पुत्र परिवशत यही है तो तेसा हम निष्ठा तो का कृष्ण कर रहा है वो जो शास्त्र विधान को उल्लंघन किया है जानते नहीं बिचारे किंतु श्रद्धा से युक्त होकर पूजा कर रहे हैं उनकी जो पूजा है किसमें परिवसान होगा सात्विक बोला जाए राजस माना जाए तामस माना जाए तेषा निष्ठातुकार कृष्णा सत्य महादेव कहा तो था ये उनके श्रद्धा के द्वारा किए गए कर्म हैं पुत्र परिवेश कहां पर परिवर्षण होगा फल समाप्ति कहां होगी इन कर्मों की फल कहां मिलेगा सात्विक फल मिलेगा राजस्व फल मिलेगा तामस फल मिलेगा क्या मिलेगा तेषाम निष्ठा तो प्रश्न इत्यादि कहा था ठीक है तेषाम एवं भूतानाम शास्त्र नहीं जानते परित्याग किया हुआ है न जानने के कारण और श्रद्धा से युक्त होकर पूजा आदि कर रहे हैं उनकी पूजा किस में परिवसान करना हमने कहा समझा किसकी पूजा हो रही हो ये कहा समझे ही गए ठीक है मैं का निष्ठा है तेषाम निष्ठा तो का उनकी निष्ठा क्या है इसी की व्याख्या करते हैं सत्वमा हो रजस्तमा सत्व में है रज में है तम में है सतुगुण में है रजगुण में है तमगुण में है उनकी निष्ठा सात्विक है राजसी है तामसी है क्या है ये प्रश्न है अर्जुन का प्रश्न यही है कार्याणाम कारण विपदेशम आश्रित तात्पर्य रहा कार्य जो है ना निष्ठा कारण के द्वारा उपदेश के आश्रय करके बताते हैं एतत् इत्यादि का एतत् उत्तम भवती कार्य जो होता है कारण में आश्रित करके कहा जाता है कारण से कहा कारण शब्द से कार्य को कहा जाता है कहीं या तेसाम देवादि विषय पूजा वो जो पूजा है देवादि को विषय करने वाली पूजा सा वो पूजा किम सात्विकी आहोषित राजसी उत तामसी वो सात्विकी पूजा है अथवा राजसी पूजा है अथवा तामसी पूजा है ये प्रश्न है अगर उत्तर देना है विशेष निष्ठम उत्तरम ये श्लोक सामान्य रूप से पूछा गया है यजंते शब्द आया है किसकी पूजा करना वो विशेषण नहीं लगाया मनुष्य की पूजा करना है देवता की पूजा करना है भूत की करना प्रेत की करना किसका करना है विशेषण नहीं है केवल यजंते बोल दिया गच्छति बोलने से जिज्ञासा शांत नहीं होगी क्या जिज्ञासा का गच्छती कौन जाता है देवता गच्छति बोलेंगे तो पूरा हो जाएगा केवल गच्छति उसका कर्ता की आवश्यकता है कौन है जाने वाला कौन इस प्रकार यजंते बोलते किसकी पूजा है ये ये प्रश्न है शास्त्र मर्यादा जानते नहीं है श्रद्धायुक्त तो होकर के कर रहे हैं वृद्ध व्यवहार को देखते लगे हुए हैं उनकी पूजा को किस में ले जाए सात्विक पूजा माना जाए राजस माना जाए तामस माना जाए यही कहना है तो ये सामान्य प्रश्न था विशेष निष्ठम उत्तरम निष्ठम उत्तरम सामान्य वक्तुम न सक्यम भगवान ये कहना चाहते हैं भाई जो उत्तर इसका विशेष में निष्ठा रखती है विशेष के द्वारा होगा अमुक की पूजा अमुक की पूजा बोलना पड़ेगा सामान्य न में न सक्यम सामान्य रूप से इसको बताना संभव नहीं है विशेष रूप से बताना पड़ेगा इस प्रश्न का उत्तर विशेष रूप से होगा मैंने विशेषण लगाकर बोलना पड़ेगा ठीक कहना है इति आशय ने परिहरित इसलिए प्रश्न का उत्तर देते हैं सामान्य भाषण का सामान्य विषय प्रश्न आयोग अयम प्रश्न ये जो प्रश्न तुमने किया अभी तो सामान्य विषय है केवल यजनते शब्द दिया है यजन करते हैं किसकी यजन करते हैं अप्रभुज्य प्रवचन और हति कहते हैं बिना विभाग करके इस प्रश्न का विभाग किए बिना हाँ उत्तर के योग्य नहीं होता है प्रतिपद में उत्तर न अर्ति योग्य नहीं हो पाएगा विभाग करना पड़ेगा प्रश्न तीन प्रकार के व्यक्ति की विभाग करना होगा सतुगुणी रजुगुणी तमगुणी किसके उसके कार्य को देखते हुए जो पूर्व जो कर्म पहले जन्म में किया हुआ जो कर्म होगा उसका संस्कार से इस जन्म में शुरू होता है इस जन्म में वो संस्कार पहले काम वही कराएगा वो संस्कार इसलिए अन्नप्राशन के दिन में खान खान पर ऐसा करते थे जो बच्चा होगा बाहर रख दिया है उसको अपने पेट से इधर उधर घसीटने लगा हुआ होता है उस काल में उस काल में माने पुस्तक आदि धार्मिक पुस्तक हो अथवा उपन्यास आदि हो अथवा लेखनी सामग्री हो अथवा कोई माने खेती किसान वालों का फावड़ा आदि जो भी होगा कई चीज रख देते हैं उसके सामने तो वो बच्चा अबोध अवस्था में पता नहीं उसको तो वो घसीटता हुआ इधर तो उधर करता है सब देख रहे हैं तो जिसको पहले परसा कर देगा छुएगा वो हाँ ये भविष्य में यही बनेगा ये संस्कार इसके पास जैसे जानते हैं माता पिता है उसके ऐसा करते हैं अन्नप्राशन के दिन उबालक के लोग रख देते हैं सामने तो पहले का संस्कार ये है इसमें है ये ज्ञान होता है तो पूर्व कर्म जैसे किया हुआ उसके आधार पर जो संस्कार होगा उस संस्कार के द्वारा ही शुरू शुरू में माने देवादि की पूजा करने वाला हो जाता है कोई कहे भी नहीं देवता की पूजा में करने लग जाता है कोई एक से राक्षस आदि की पूजा करने वाला हो जाता है कोई भूत प्रेत आदि की पूजा करने वाला होता है उसको देखते हुए सात्विक है राजा से तामस है ये जाना जाता है ये कहना है ये बोलना है यही उत्तर दे रहा है यहां तो संस्कार के बल पर पूर्व संस्कार के बल पर ये बोलना है तीन प्रकार की श्रद्धा आ जाती है स्वतः उसके पास कर शुरू में आगे फिर जैसा उद्बोधक मिलते जाएंगे क्योंकि दोष और गुण जो है ना संसर्ग दोष गुणा भवंती जैसे जैसे हमारे संबंध होते हैं लोगों के साथ वैसे वैसे दोष गुण बढ़ते रहते हैं सज्जनों की संगत हो जाए तो गुण बढ़ेंगे दुर्जनों की संगत हो जाए दोष बढ़ेंगे स्थिति है वृद्धि होगी किंतु तो सूर्य का संस्कार अपने पूर्वकृत कर्म के आधार पर होता है शुरुआती संस्कार हर व्यक्ति का ये बोल रहा है तो उसी को लेकर के ये सात्विक है राजा से तामस से चिना जाता है पहचाना जाता है उनके आगे के कर्म को देखते हुए ये कहना है श्री भगवान वाच त्रिविदा भवती श्रद्धा देनाम सा स्वभावजा सात्विके राजसे चैव तामसी चेति ताम शृणु त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विके राजसे चैव तामसी चेति ताम शृणु देही राम स्वभाव जा त्रिविधि त्रिविधा श्रद्धा भवती कहते देही राम प्राणी नाम जो देहधारी है स्वभावजा स्वभावजन संस्कार जन्य पहले किए हुए कर्म का संस्कार होगा पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म का संस्कार उसको स्वभाव कहा जाता है स्वभाव जा संस्कार जन्य तीन प्रकार की श्रद्धा होती है संस्कार जन्य अभी अभी अबोध अवस्था में शुरू शुरू का बालक है तो संस्कार जन्म जो होगा वही होगा श्रद्धा देहिना माने प्राणियों देहदारियों का प्राणियों का स्वभाव जा या श्रद्धा सा त्रिविधा होती वो श्रद्धा तीन प्रकार की होती है कहते तीन प्रकार की श्रद्धा होती है कौन कौन है तो कहा सात्विकी राजसी चाहिए तामसी तेजता कहा एक सात्विकी श्रद्धा होती है अरे राजसी श्रद्धा एक तामसी श्रद्धा पूर्व कर्म के संस्कार के आधार पर शुरू शुरू में श्रद्धा होती है व्यक्ति की कोई सात्विक बन करके चलता है कोई राजस बन के चलता है कोई तामस बन के चलता है ताम सुनो उन्हीं तीनों श्रद्धाओं के बारे में सुनो को सुनो कहा राजसी तामसी सात्विकी को सुनो कहते हैं कहा भाष्य का त्रिप्रकारा कहते हैं त्रिविधा त्रिविधा माने त्रिप्रकार तीन प्रकार है माने धा प्रत्यय करके बना दिया है तीन प्रकार को त्रिविध बोलते हैं यही है त्रिप्रकार भगवती श्रद्धा श्रद्धा तीन प्रकार की होती है माने एक आस्तिक बुद्धि श्रद्धा माने एक आस्तिक बुद्धि है वो तीन प्रकार की होती है सात्विक राजस्थान तीन प्रकार यश्याम निष्ठायाम जिस श्रद्धा में निष्ठा करने पर होने पर तुम पृछ जिस निष्ठा के बारे में तुम पूछ रहे हो तुमने पूछा था तेसाम निष्ठा तो क्या कृष्णा ही पूछा था एजनते श्रद्धा ने तो बोला था शास्त्री तो नहीं जानते श्रद्धालु होकर के एजन करते हैं भूत प्रेत किसकी विशेषण नहीं है तुमने खाली एजेंटे बोला हुआ है तेसा निष्ठा तो का कृष्ण का उनकी निष्ठा किसमें श्रद्धा किसमें पूछा था तुमने ऐसे हम निष्ठा जिस निष्ठा के विषय में तुम पृछसी तुम पूछते हो अर्जुन देही नाम सा स्वभाव तो वो देही होगा प्राणी होगा स्वभाव जन्य एक श्रद्धा है तीन प्रकार की श्रद्धा है जन्य है कर्मजन्य है कर्म का संस्कार जन्य है कहा जन्मांतर कृतो धर्मादि संस्कार यही हो स्वभाव या संस्कार पूर्व जन्म में किया हुआ जो धर्मादि का संस्कार है पाप पुण्य जैसा किया होगा उसके आधार पर आइए संस्कार है मरणकाल ही अभिव्यक्त मरणकाल में अपना फल देने के लिए उन्मुख हो गए जो तो पूर्व जन्म का संस्कार और व्यक्त हो रखा है काल में स्वभाव उच्चत उसी को स्वभाव कहा जाता है पहले दब करके बैठा था पूर्व कर्म के हाँ, संस्कार था मरण काल में जाकर के अपना फल देने के लिए अभिव्यक्त हो गया प्रकट हो गया उसी को यहाँ स्वभाव शब्द से कहा जाता है स्वभाव जाते स्वभाव जन्य संस्कार तीन प्रकार का श्रद्धा ही कहा है तथो जाता उस स्वभाव से पैदा हुआ स्वभाव जा तत्व तो जाता मैंने मतलब स्वभावता जाता स्वभाव से पैदा हुआ स्वभाव जा सात्विकी राजसी सात्विकी सत्व निवृत्ता कहते हैं सतुगुण से संपन्न वाले को सात्विकी कहा सतुगुण से युक्त होने पर देवादि को पूजा करेगा आएगा आगे देव पूजा आदि विषय जो देवादि की पूजा के विषय करती है कौन श्रद्धा सात्विकी श्रद्धा है वो राजसी रजो निवृत्ता रजोगुण से संपन्न है निर्वृत्ता मैंने संपन्न रजोगुण से संपन्न किया गया है हुआ है यक्ष रक्ष पूजा पूजा आदि विषय यक्ष श्री राजसा कहेंगे आगे यक्ष और राक्षसों की पूजा में लग जाता है तांत्रिक बन जाता हो यदि राजसी संस्कार लेके आया हो तो तांत्रिक बनने की इच्छा होगी उसकी और तामसी कहा तीसरे तामसी तमो निर्वृत्ता अघोरी आदि जो बनते हैं मुर्दे के ऊपर बैठ करके साधना करने वाले तामसी श्रद्धा वाले वो तमो निर्वृत्ता तमोगुण से संपन्न श्रद्धा है वो प्रेत पिशाचा पिशाचादि आदि पूजा विषय ये कहते हैं प्रेत पिशाच आदि की पूजा कर रही है विषय एवं त्रिविधा ताम महा श्रद्धाम श्रवण कहा ये तीन प्रकार की श्रद्धा है वो जो मेरे द्वारा कहे जाने वाली तीन प्रकार की श्रद्धा को तुम सुनो आगे सुनो कहा ये कहना टीका में कहते हैं किम विधि श्रद्धा त्रय विद्यम प्रश्न अनुपयुक्त उच्चते प्रश्न किया था तेसा निष्ठा तो कहा कृष्णा सप्तमा और या श्रद्धा तीन प्रकार हमने पूछा ही नहीं श्रद्धा के विषय में प्रश्न के अनुरूप उत्तर नहीं है ये प्रश्न आ रहा है प्रश्न जैसा था ये शास्त्र विद्युत अनुता तेसा निष्ठा निष्ठा पूछा है हमने तो क्या पूछा उनकी निष्ठा क्या है पूछा है सप्तमय रजतम हमने श्रद्धा थोड़ी पूछा है श्रद्धा नहीं पूछा अब उत्तर दिया त्रिविदा भगवती श्रद्धा कहां से कहां माने आम्रम पृष्ठे को विदावान आचष्टे ये आम है करके पूछा प्रश्न को भूलवाने के लिए क्या बोलता है अरे देखो ये कचनार है इधर देखा था ये आम पूछा इधर था प्रश्न भुलाने के लिए ऐसा करता है तो उत्तर सुझा नहीं इसलिए प्रश्न भुलाने के लिए भुलवाने के लिए ऐसा करता हूं इसी प्रकार हो रहा है हमने पूछा ही नहीं श्रद्धा के बारे में हमने तो निष्ठा के बारे में पूछा तो श्रद्धा क्या बोल रहे हैं ये प्रश्न है किमित श्रद्धा त्रैविध्य त्रैविध्यम प्रश्न अनुपयुक्तम उच्चते श्रद्धा तीन प्रकार की बता दी प्रश्न के उपयोगी तो है ही नहीं ये प्रश्न तो हमने निष्ठा के बारे में कहा था पुरुष लोग निष्ठा आया है निष्ठा शब्द है तथा यश्याम आया है भाषा देया यश्याम निष्ठायाम तुम पृथ्वी जिस निष्ठा के बारे में तुम पूछते हो ना वह निष्ठा शब्द से तुमने पूछा था देही नाम सा स्वभाव जा देही हो गए जो अपने संस्कार जन्य श्रद्धा तीन प्रकार की होती है निष्ठा माने श्रद्धा ही है वो तीन प्रकार की होती है कहा हुआ है टीका में कहना है श्रद्धापूर्वक आयाम क्रियायाम इतिहास यश्याम करता है श्रद्धापूर्वक जो क्रिया करेगा जैसी श्रद्धा होगी उसमें देवादि पूजा आदि क्रिया करेगा देवादि का पूजन हो यक्ष आदि पूजन हो भूत प्रेत आदि पूजन हो इत्यादि श्रद्धा पूर्विक श्रद्धा पूर्विक अनिष्ठा बने श्रद्धा ही है वो पूर्व के संस्कार से उत्पन्न है ये संस्कार है वो क्रियायाम ऐसे श्रद्धा पूर्वक जो क्रिया है उसमें ये कारण होते हैं श्रद्धा कारण होते कहा श्रद्धा त्रैविद्य हेतु महा श्रद्धा के तीन प्रकार हमने कारण बताते हैं सा स्वभाव जा वो संस्कार जन्य है हेतु ये कारण ये पूर्व जन्म में किया हुआ जो कर्म मान मरण काल में कर्म का संस्कार मरण काल में फल देने के लिए अभिव्यक्त हो रहे हैं उसी को यहां पर संस्कार कहा गया वही कारण है श्रद्धा कहा गया उसी को स्वभाव या कहा हुआ स्वभावजन्य कहा स्वभाव उसका नाम है कहा स्वभाव शब्दार्थम प्रकृत उपयोगितया कथे स्वभाव शब्द यहां जो है ना संस्कार को कहा स्वभाव किसको पहले जन्म किया हुआ संस्कार का फलोन्मुख अवस्था है उसको स्वभाव शब्द से कहा हुआ है संस्कार को प्रकृति में उपयोगिता है वो संस्कार के बल पर ही व्यक्ति शुरू करता है काम पक्षी को उड़ाना कोई सिखाता नहीं है कैसे सिखाया जाए पहले वो पक्षी बना किसी जन्म में था अभी उस समय आने पर वो उद्बोधक बन गया निमित्त बन गया उद्बोधक बन गया संस्कार जगाने के लिए कारण होता उद्बोधक चाहिए उद्बोध के बिना संस्कार नहीं चलते कोई ना कोई निमित्त बनता है तब संस्कार करते हैं वो शरीर निमित्त उद्बोधक बन गया उस अवस्था के शरीर क्यों उस काल में उड़ा वो शरीर में होकर के उड़ा हुआ था वो अब वो शरीर में आया तो उड़ने की कला आ गई उसे अपने उड़ता है स्थिति ऐसी माने गाय भैंस आदि के जो बछड़े होते हैं बच्चे होते हैं अपने आप उठे हुए दूध कहां है ढूंढ करके पीने लग जाते हैं उस स्थिति में पहले भी दूध पिया था उसने उस अवस्था में वो संस्कार जग गया था पहले नहीं जगा उद्भोग तक चाहिए संस्कार ऐसी चीज है तो इस प्रकार यहां भी पूजा आदि को देखकर भी संस्कार है उसका पूर्व जन्म संस्कार देखा जाता है ये कहना है जन्मांतर एकादश मान स्वभाव शब्द का अर्थ है प्रकृत उपयोगी है यहाँ श्रद्धा उसी के द्वारा श्रद्धा उत्पन्न होनी है जन्मांतर संस्कार तो धर्मादि संस्कार हो संस्कारो काले अभिव्यक्त स्वभाव उचित का जब पूर्व जन्म में किया हुआ जो धर्मादि का संस्कार धर्म हो पाप हो पुण्य जो भी किया हो उसने वो जो काल में अभिव्यक्त हुआ संस्कार फलोन्मुख हो गया मरण काल में उसी को यहां स्वभाव शब्द से कहा जाता है ये कहा था ठीक है हम कहते हैं कथम त्रिविधा इति अपेक्षा तीन प्रकार की श्रद्धा कैसी महाराज तीन प्रकार के श्रद्धा है ठीक है जन्मांतर पे किया गया धर्म के धर्म के द्वारा संस्कार पैदा हुआ था फलोन्मुख अवस्था में आया हुआ है उससे जन्य तीन प्रकार की कैसे बोल दिया तीन प्रकार कैसे होंगे श्रद्धा श्रद्धा तो श्रद्धा एक ही है कैसे तीन ये शंका कहा सात्विकी इत्यादि कहा था सात्विकी राशि तो तामसी चेतु कहा था सात्विकी औषध राजसी उत्तामसी इत्यादि सात्विकी आदि था सात्विकी सत्व निर्मिता सतुगुणी कर्म किया होगा पूर्व काल में पूर्व जन्म में सतुगुणी कर्म करके आया होगा तो उसका संस्कार रहेगा संस्कार काल यहाँ सात्विक श्रद्धा पैदा हो जाए कौन सी श्रद्धा सात्विक श्रद्धा सत्व निवृत्ता सतुगुण के द्वारा संपन्न हुई जो वो करके आई वो श्रद्धा सात्विक देवादि पूजा विषय का वो देवादि पूजा में लग जाता हो बुद्धि ऐसी स्थिति हो जाती उसे रुचि उधर होती है राजसी बना रजो निवृत्ता रजोगुण से संपन्न किया हुआ है यक्ष रक्ष विषय इत्यादि है तामसी तमो इत्यादि कहा ठीक है हम कहते हैं कथम उगता श्रद्धा स्वभावजा ये जो तीन प्रकार की श्रद्धा आपने दिखाई स्वभावजा पूर्व जन्म के कर्म से पैदा वो कैसे माना जाए संस्कार जन्म कैसे माना जाए तो कहते हैं तथा ताम उच्चमानाम श्रद्धाम सुनो कहा जो मेरे द्वारा कही जाने वाली श्रद्धा है ना वो श्रद्धा को तुम सुनो ध्यान से सुनो मैं तीन प्रकार की श्रद्धा सिद्ध करूंगा बताऊंगा ये कहना है आगे कहते हैं टीका में प्राचीन कर्म उद्बोधिता त्रिविधा वासना जो वासना बोलते हैं संस्कार बोलते हैं एक ही बात है पहले वाले कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए तीन प्रकार के संस्कार हैं तीन प्रकार के संस्कार उद्भुत हुए फल देने के लिए उन्मुख है तीन प्रकार के संस्कार है प्राचीन कर्म पूर्वजन्म के कर्म अभी शुरू में शुरू में लगने के लिए प्राचीन कर्म उद्बोधिता प्राचीन कर्म से प्राचीन पूर्व कर्म से उत्पन्न हुए जो त्रिविधा वासना स्वभाव शब्द का तीन प्रकार के संस्कार को स्वभाव शब्द से कहा हुआ है स्वभाव अजा में स्वभाव शब्द से बोले त्रिविधाया श्रद्धाया स्वभाव शब्द से लिया हुआ जो तीन प्रकार की श्रद्धा है स्वभाव जन श्रद्धा निमित्तम वो जो श्रद्धा के निमित्त है स्वभाव पूर्व ने किया हुआ कर्म का संस्कार वो निमित्त बना श्रद्धा अभी संस्कार श्रद्धा होने के लिए ये निमित्त कारण है कौन सा कारण किंतु वो श्रद्धा का उपादान कारण कौन होगा ये तो निमित्त काल बने संस्कार होने से श्रद्धा आ गई उपादान कारण क्या हुआ श्रद्धा का निमित्त कारण बताया पूर्व श्लोक में त्रिविधा भक्ति श्रद्धा तेई नाम सा स्वभाव जाए इस श्लोक में निमित्त कारण को बताया श्रद्धा के निमित्त कारण संस्कार है पूर्व संस्कार निमित्त कारण बताया इधानी उपादान तस्या दर्शाई अब, अब इस अधुना मानी तृतीय श्लोक में उपादान कारण दिखाते हैं भगवान जो श्रद्धा रूपी परिणत हो रहा है जैसे वृत्ति का घट के परिणाम मानी घट के उपादान कारण है कुलाल आदि निमित्त कारण है ठीक इस प्रकार निमित्त कारण तो संस्कार है श्रद्धा के श्रद्धा होने के लिए निमित्त चाहिए निमित्त है उपादान कारण क्या प्रश्न उठता है स एवं सा एवं त्रिविधा भवती सा श्रद्धा वो श्रद्धा इस प्रकार तीन प्रकार हो जाती है उत्तर क्या है अंतकरण उसका उपादान कारण होता है जो संस्कार विशिष्ट अंतकरण पूर्व जन्म किया हुआ जो स्वभाव समझने का संस्कार है वो संस्कार विशिष्ट अंतकरण उपादान कारण क्यों श्रद्धा माने अंतकरण की वृत्ति विशेष है जैसे काम आदि वृत्ति है उस प्रकार श्रद्धा भी एक वृत्ति है तो उसके कहां बनी हुई वृत्ति अंतकरण अंतकरण उसका उपादान कारण है और स्वभाव समझने का पूर्वकृत कर्म का जो संस्कार है वह है निमित्त कारण और उपादान कारण अंतकरण है केवल अंतकरण भी नहीं संस्कार विशिष्ट अंतकरण कौन सा अंतकरण हाँ, तब धर्मा धर्माधर्मादि जो भी किया होगा वो संस्कार उसका होगा तद विशिष्ट अंतकरण उपादान कारण है फिर उसी ढंग से श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है क्यों श्रद्धा माने मनोवृत्ति है वो मन की एक वृत्ति है ये कहना है सा एवं त्रिव्या भौतिक वो श्रद्धा तीन प्रकार की होती है भाई एक ही प्रकार की नहीं है जैसा कर्म होगा पूर्व का उसके संस्कार जैसा बना होगा उसी संस्कार के आधार पर अंतकरण में ये क्या वृत्ति बनेगी श्रद्धा उत्पन्न होगी इसलिए बोलते हैं सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत श्रद्धा पुरुषो यो श्रद्धा से वस सत्वानुरूपा सर्व श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् एव सः सत्वानुरूपा अंतकरण अनुरूपा मनोनुरूपा अंतकरण अंतकरण की अनुरूपी श्रद्धा होती है कैसा अंतकरण कौन से संस्कार विशिष्ट अंतकरण हुआ है वो अंतकरण के आधार पर ही अभी श्रद्धा होगी इस जन्म में श्रद्धा पैदा हो जाती है पूर्व जो पूर्व में किया हुआ जो पुण्य पाप आदि कर्म है पुण्य है पाप है अथवा पुण्य पाप उभय विस्तृत है जैसा होगा तो जैसा कर्म का कर्म किया उसका संस्कार मरण काल में फलोन्मुख हो रखे हैं वो फल देने के तैयार है फल क्या है परिणाम श्रद्धा उत्पन्न होने अगले जन्म में उसके वर्तमान जन्म में श्रद्धा रूप से आना है फल उसके परिणाम देवादि का पूजा होना जैसे पहले करता था उसी पूजन होना होगा जिस ढंग से चलता था तो वो सत्वानुरूप कहा अंतकरण तो अनुरूप होती है वो संस्कार युक्त जो अंतकरण होगा पूर्व जन्म की कर्म का जो संस्कार विशिष्ट अंतकरण अंतकरण है अभी संस्कार भी है हाँ, कर्म समाप्त हो गया पूर्व में उसका संस्कार रहा हुआ है अंतकरण तो है ही अभी जीवित है अंतकरण वो तो ज्ञान के द्वारा नाश होना उसका सत्वानुरूपा अंतकरण के अनुरूप संस्कार विशिष्ट अंतकरण कैसा अंतकरण पूर्व कृत कर्म का जो संस्कार है पुण्य पाप अथवा विस्तृत जैसा कर्म होगा उसका संस्कार विशिष्ट अंतकरण होगा उसका अनुरूपी श्रद्धा सर्वस्व श्रद्धा होती सभी प्राणी मात्र मनुष्य मात्र की श्रद्धा पूर्वकृत कर्म के अनुसार ही होता है प्राणी मात्र की श्रद्धा श्रद्धा भारत हे भारत हे भरतवंश में उत्पन्न अर्जुन श्रद्धा भवती सर्वस्व श्रद्धा भवती सबकी श्रद्धा उसी में होती है अंतकरण की अनुरूपी होती है किस कारण ये उपादान कारण है संस्कार है निमित्त कारण पूर्वकृत कर्मों का जो संस्कार हो निमित्त कारण और वो संस्कार विशिष्ट अंतकरण उपादान कारण क्यों अंतकरण का परिणाम है श्रद्धा वृत्ति है अयम पुरुष श्रद्धा वय ये जो पुरुष है ना शरीर ये प्राणी पुरुष माने प्राणी ये प्राणी कैसा है श्रद्धामय श्रद्धामय या मय प्रत्यय प्राचुर्य में है तत्प्रकृतिवत नहीं मय से मय विकार अर्थ में नहीं है तथा आगत अर्थ में भी नहीं है प्राचुर्य अर्थ में है जैसे हो यज्ञ बोलते हैं जैसे यज्ञ में मालपुड़े मालपुड़े बना हो ऐसे यज्ञ को अपुपमे बोला जाता है प्राचुर्य अधिक ठीक है प्राय मनुष्य ये कहा जाते हैं प्राय मनुष्य श्रद्धामय होता है श्रद्धा के बिना कोई भी नहीं होता सब श्रद्धालु हैं कोई शराब के भट्टी में श्रद्धा रखता है कोई देवादि की पूजा में श्रद्धा रखता है कोई भूतों की पूजा में कोई प्रेतों की पूजा में श्रद्धा रखता है श्रद्धा सबकी है कोई एक से राक्षस आदि की पूजा में स्थिति है कोई राजनेता में श्रद्धा रखता है कोई धर्म नेता में श्रद्धा रखता है अश्रद्धालु कोई है नहीं श्रद्धा अयम पुरुष ये प्राणी जो होता है कैसा श्रद्धा में होता है श्रद्धा प्राय होता है कहीं ना कहीं श्रद्धा किए बिना रह नहीं सकता श्रद्धा है कहीं ना कहीं है सर आपकी भट्टी में श्रद्धा होगी कहीं होगी कहीं ना कहीं होगी वहां कहीं बिना चाहे बेचैन होता हो जाता है वैसे ही देवादी पूजा वाली श्रद्धा होगी तो देवादी मंदिर में गए बिना बेचैन होगा सब बेचैन नहीं आएगी उसके बिना ये श्रद्धा अयम पुरुष ये प्राणी ये जो प्राणी है देहादि मान कार्यक्रम संघात को यह पुरुष उसे कहा जाता है शरीर इंद्रियादि रूप है समुदाय है यह श्रद्धा है श्रद्धा प्राय है बिना श्रद्धा का रह नहीं सकता ऐसा है यो यद श्रद्धा यो यद या श्रद्धा यशमन स यद श्रद्धा जिस जो श्रद्धा जिसमें होगी उसको कहा यो यद श्रद्धा जो श्रद्धा वाला जो होगा जैसे श्रद्धा जिसकी होगी सएव स वो ये श्रद्धा वाला होता है वही श्रद्धा वाला कहा जाता है जो श्रद्धा जिसके पास होगी वही श्रद्धा वाला वो होता है बिना श्रद्धा का व्यक्ति कोई मिलने वाला नहीं है ये कहना है में कहा सत्वानुरूपा सत्व को माने अंतकरण के अनुरूप ये बोलते हैं सत्व माने अंतकरण विशिष्ट संस्कार उपेत अंतकरण अनुरूपा यही उसका सत्वानुरूपा का केवल अंतकरण भी उसका उपादान कारण नहीं है विशिष्ट संस्कार देवादि पूजा विशिष्ट पूर्व जन्म पूजा किया हो वो संस्कार विशिष्ट अंतकरण हो अथवा भूत प्रेत आदि की पूजा किया उस संस्कार विशिष्ट अंतकरण हो जैसा किया होगा प्रयोजन के मरण काल में वो संस्कार जो जगा हुआ फल देने के लिए श्रद्धा रूप में आना है एक विशिष्ट अंतर संस्कार रूप तो अंतकरण रूप अनुरूपा कहा सत्वार रूप कहा विशिष्ट जो संस्कार है तत्त पूजा आदि विशिष्ट पूर्वजन्म के उस संस्कार से युक्त जो अंतकरण है उसका अनुरूपी सर्वस्व प्राणी जाते से श्रद्धा हर प्राणी की श्रद्धा उसमें होती है स्थिति है सिंह के बच्चे को मांग से शिकार खेलना सिखाना नहीं पड़ता बिल्ली को कोई सिखाता नहीं क्यों पूर्वजन्म में ऐसा काम किया था अनाधिकाल से चल रहा है चलते चलते किसी जन्म का था उस काल में जो विशिष्ट वो संस्कार विशिष्ट अंतकरण आया हुआ है उसमें श्रद्धा हो गई पास झपटने लग गया शुरू में साधन भी होता है बिना सिखाए कर जाता व्यक्ति पूर्वजन्म संस्कार के बल पर पूर्वजन्म ठीक पूर्वजन्म नहीं हो सकता ठीक पूर्वजन्म भी हो अथवा जन्म अनंत जन्मों में कौन से जन्म का संस्कार जग गया हो जग जाता है तो जैसे रील खुल जाता है ना पेपो में कहां तक जाता हो इस प्रकार ये कहा हुआ सत्व अनुरूप विशिष्ट संस्कार उपयुक्त अंतकर्म सर्वे से प्राण जाते से श्रद्धा होती है भारत का ये अर्जुन प्राणी मात्र की श्रद्धा उसमें हो जाती है पूर्वजन्म के संस्कार को लेकर के श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है आगे फिर जैसे जैसे दुर्जन और सज्जन जैसे जैसे हमारे सामने मिलते रहेंगे वैसे वैसे वो श्रद्धा लोप भी हो सकती है अथवा वृद्धि भी हो सकती है क्यों संसर्ग जा दोष गुणान भूखंती दोष और गुण दो भी हो हमारे जीवन में जो आता है संसर्गजन्य है जैसे संपर्क प्राप्त होगा उसके आधार पर होता है हम सर्वा शराबी के पास यदि रहे एक दिन दो दिन तीन दिन करते करते हमें शराब पिला के छोड़ेगा संसार आ जाएगा महात्मा के पास रहें एक दिन दो दिन करके धीरे धीरे करके कुछ भजन साधन करने की इच्छा जगेगी हमारी संस्कार ऐसी चीज है संसर्गजन्य है देखा देखी में जैसे व्यक्ति आएगा उसके साथ कारण से होता है बढ़ना और घटना मूल संस्कार अपना है पूर्व जन्म कर्मों का फलस्वरूप है स्वरूप है यही है यदि एवं तथा किम से चलो तीन प्रकार की श्रद्धा होती हो ठीक है सत्वानुपासन और श्रद्धा वैर आरोप बोला सबकी श्रद्धा अंतकरण के अनुरूप होकर के होती है विशिष्ट संस्कार विशिष्ट जो अंतकरण है उसे उसके अनुरूप श्रद्धा होती है कहा उससे क्या आया यहाँ प्रसंग हमें प्रश्न आया यदि यह ठीक है विशिष्ट संस्कार विशिष्ट अंतकरण में श्रद्धा होती है बोल दिया तथा के विचार प्रश्न आते उच्चते कहा अरे बाबा ये प्राणी जितने भी श्रद्धा में है कोई अश्रद्धालु है ही नहीं सब श्रद्धा है श्रद्धामयो एवं पुरुष श्रद्धा प्राय है श्रद्धा प्राय यहां पर मैट प्रत्यय श्रद्धा से मैट है तत्प्रकृत वचने भयत सूत्र से है प्राचुर्य अर्थ में मैट प्रत्यय है विकार अर्थ में नहीं है श्रद्धा भाई मान श्रद्धा प्रायो अयम पुरुष माने संसारी जीव पुरुष शब्द का अर्थ है संसारी जीव संसारी जीव जितने भी है ना श्रद्धा प्राय होते हैं कथम कैसे श्रद्धा प्राय होता है प्रश्न आया उत्तर देते यो यथ श्रद्धा या श्रद्धा ऐसे जो श्रद्धा जिसकी है जैसे जीव से जिस जीव की श्रद्धा जो तो है भिन्न भिन्न श्रद्धा है एक ही श्रद्धा हो रही है सारे जीव की भिन्न भिन्न श्रद्धा है या श्रद्धा यश जीव से जो श्रद्धा जिस जीव की है स यथ श्रद्धा उस जीव को कहा यथ श्रद्धा कहा जाता है यथ श्रद्धा जो श्रद्धा वाला ऐसा कहा जाता है बहुत समास है सएव तत्शब्दान रूप सएव रूप एव सजीव कहा सएव स कहा था वही जो वही श्रद्धा वाला जो जीव है ना वही वही श्रद्धा वाला होता है वो जो श्रद्धा जिसमें है वो श्रद्धा वाला वो जीव होता है ये आता है ठीक है हम कहते हैं विशिष्ट चित्त उपादान श्रद्धा विशिष्ट अंतकरण कहा था भाषण में संस्कार विशिष्ट या बोलते चित्त एक ही बात है विशिष्ट चित्त उपादान श्रद्धा विशिष्ट चित्त कैसे विशिष्ट संस्कार से विशिष्ट पूर्व जन्म कृत जो धर्मा धर्मादि कर्म है तद विशिष्ट तत्संस्कार विशिष्ट अंतर्गत उपादान कार्य श्रद्धा की उपादान उपादान वाली जो श्रद्धा है तत्त्रैविद्य वो तत्म श्रद्धा त्रैविद्य त्रिविधा मान संस्कार विशिष्ट चित्त तीन प्रकार होने के कारण श्रद्धा भी तीन प्रकार संस्कार विशेष चित्त तीन प्रकार हुआ है तब तक संस्कार के कारण चित्त भिन्न भिन्न प्रकार हुआ है उसके कारण से श्रद्धा भी तीन प्रकार एक पूर्वार्ध का अध्याय सत्वानुपा श्रद्धा पर भविवाद कथम निष्ठाया सत्वादि प्रकार प्रश्न द्वारा श्रद्धा आश्रय विद्या निरूपण उपयुक्तम यदि संगत है हमने तो निष्ठा पूछा था महाराज तेसा निष्ठा प्रकार कृष्णा सत्व महोदय आपने श्रद्धा के तीन प्रकार की चर्चा करके बताई क्या उत्तर मिला हमें हमारा उत्तर तो रहा है मिला ही नहीं कुछ हमने पूछा था निष्ठा के बारे में ये शास्त्र विद्भूषित ये जनते श्रद्धांता तेसा निष्ठा पिता तो कृष्ण सब तुम्हारे हमने तो निष्ठा के बारे में पूछा है आपने घुमा घुमा करके तीन प्रकार की श्रद्धा जो श्रद्धा वाला होगा वही होगा ये क्या उत्तर हुआ है ये प्रश्न कथम निष्ठा आया पूछा तो हमने निष्ठा के बारे में है कथम निष्ठा आया सत्वादि प्रकार प्रश्न द्वारा सत्वादि प्रकार जो तीन प्रकार के जो प्रश्न के द्वारा श्रद्धाया स्थैवित निरूपण उपयुक्तम जो तीन प्रकार की श्रद्धा की चर्चा कर दी तो उसके द्वारा उपयोग कैसे निरूपण हो गया समाधान कैसे हुआ उपयोग कैसे बना समाधान का ये शंका ही ऐसा मान करके पूर्वादि शंका करता है यदि एवं इत्यादि कहा ठीक है आपने तीन प्रकार की श्रद्धा आदि हमारे जो प्रश्न के क्या उत्तर हुआ हमारा प्रश्न निष्ठा के बारे में है यदि एवं तथा किम से श्रद्धा होगी तीन प्रकार की जो श्रद्धा वाला होगा वही व्यक्ति वो श्रद्धा वाला कहा जाएगा सब कुछ ठीक है किंतु हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है तो उत्तर देते अरे बाबा कोई भी व्यक्ति हो श्रद्धामय होता है बिना श्रद्धा का कोई होता ही नहीं निष्ठा बोलो श्रद्धा बोलो बात एक ही हो जाती है क्या श्रद्धामय और पुरुष कहा पुरुष माने जीव संसारी जीव को पुरुष करके कहा हुआ है श्रद्धा प्रायो कहा श्रद्धा में कहा था अयम पुरुष संसारी जीव इत्यादि ठीक है श्रद्धेयम विषय अविद्यायम तया तत्र मान पर मैं ये उत्तर देते हैं जो श्रद्धेय विषय होगा ना जो श्रद्धा के योग्य विषय होगा श्रद्धेय बोलते हैं श्रद्धा के योग्य जो होगा श्रद्धेय श्रद्धेयम विषय अभिध्यायन उसको चिंतन करता हुआ व्यक्ति अपना श्रद्धा के योग्य विषय होगा उसका चिंतन करता हुआ तया तत्रैव प्रवर्तित उस श्रद्धा के द्वारा उसी में प्रवृत्ति होती व्यक्ति की श्रद्धे विषय के चिंतन करता हुआ उस श्रद्धा के द्वारा उसी में प्रवृत्त कर जाता है व्यक्ति प्रवृत्ति होती है उस व्यक्ति के मनमान परिवृत्ति ये मानते हुए भगवान परिहार करते उच्चते करते भाषिकार बोलते हैं उच्चते कहा उच्चते से उत्तर देते हैं <clears throat> ये कहा हुआ है उच्चते श्रद्धावय पुरुष इत्यादि कहा हुआ है जीव जो है ना श्रद्धामय है श्रद्धा प्राय है बिना श्रद्धा का कोई होता ही नहीं है जिसका बोलो श्रद्धा बोलो एक ही है कहना है श्रद्धामय तुम प्रश्नपूर्वक में श्रद्धा श्रद्धामय कैसा है प्रश्न पूर्व कथम कैसे श्रद्धामय ये जीव सभी श्रद्धा वाली श्रद्धालु है कहते हैं सारे के सारे श्रद्धा के बिना कोई है ही नहीं कोई राजनेता पर श्रद्धा कोई धर्म नेता पर श्रद्धा कहीं ना कहीं श्रद्धा है हाँ। श्रद्धा के बिना कोई जीव नहीं है तो कथम प्रश्न किया तो उत्तर देते हैं कथम जो प्रश्न था उसे आगे योग्य श्रद्धा से ही से बोला जो जो जिस श्रद्धा वाले जो होगा वो उसी श्रद्धा से युक्त होता है ये उत्तर दिया है ठीक है कहते हैं श्रद्धा खलु अधिकृत पुरुष है श्रद्धा जो है ना जो अधिकारी पुरुष होगा श्रद्धा के जो पुरुष के अधिकारी अधिकारी भिन्न भिन्न होते हैं कहां श्रद्धा करता है कौन व्यक्ति कोई सतुगुण में श्रद्धा रखता है कोई तमुगुण में कोई रजुगुण में इसलिए देवादि कोई देवादि पूजा करता है कोई भूतादि पूजा करता है आदि आदि हो जाते हैं अपने तो संस्कार के आधार पर है श्रद्धा श्रद्धा फलु अधिकृत पुरुषे प्राचुर्य प्रकृता जो अधिकारी पुरुष होंगे ना जिस जिसके लिए जो अधिकारी होगा भूत प्रेत पूजा करने का अधिकारी वही होगा राजसी श्रद्धा वाला होगा सात्विक श्रद्धा वाला देवादि पूजा के अधिकारी होगा इत्यादि देखा जाता है देख करके पता लग जाता है वही श्रद्धा वाला यह है ये सात्विक यदि देवादि की पूजा करता अथवा सिद्ध कर सकते ये व्यक्ति सात्विक है ऐसा कार्य को देख करके देवादि की पूजा कार्य है उसको देख के हम सात्विक घोषित करते दें उसको राक्षस आदि पूजा करा तो तांत्रिक है तो हम उसको राजसी श्रद्धा वाला मानते हैं यदि अघोरी का काम करता हो भूत प्रेत आदि की साधना करता हो तामसी श्रद्धा वाला है आप जान सकते हैं व्यक्ति को देख करके पहचान सकते हैं उसके कार्य को देखते हुए ये कहना है श्रद्धा खलु अधिकृत पुरुष है जो अधिकारी पुरुष होकर श्रद्धा भिन्न भिन्न में है कैसी देवादि पूजा में श्रद्धा है किसी यक्षादि में पूजा है किसी भूतादि में पूजा श्रद्धा है अधिकारी अलग अलग है अधिकृत पुरुष है तब तब पूजा के जो अधिकारी होंगे उसे प्राचुर्य प्रकृता उसे विशेष रूप से रहते प्रकृत रूप से प्राय वही होगा तस्य श्रद्धामय तो सिद्धि वो व्यक्ति श्रद्धामय हो जाए क्या हो जाएगा श्रद्धा रहने से व्यक्ति को श्रद्धावान कहा जाता है श्रद्धामय होगा श्रद्धा प्रजोर वाला होगा ये कहना है हाँ समय हो गया है नहीं रखते आगे फिर करते ओम पूर्ण पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते ओम